रे कपिपोत बोल संभारी बूढ़न जान ही मोहि सुरारी कहुन जनाम जनक कर भाए कही नाते मानिए मिताई अंगद नाम कर बेटा शोक बहु भयही भेटा अंगद वचन सुनत सकुचान रहा बाली बानर मैं जाना रावण ने कहा अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता किस नाते से मित्रता मानता है अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है मैं बालिका पुत्र हूँ उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला हाँ मैं जान गया मुझे याद आ गया बाली नाम का एक बंदर था अङ्गद तहि उपजेहु वंश अनल कुल गर्भन स्रौगयु व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहायहू अब कहु कुशल बालिक बिहसी बचन तब अंगद कहें दिन दस गए बाली पह जाए बूझे हु कुशल सखाउर लाए अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है अरे कुलनाशक तू तो अपने कुल रूपी बाँस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दूध कहलाया अब बाली की कुशल तो बता वह आजकल कहाँ है तब अंगद ने हंसकर कहा दस कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना राम विरोध कुशल जैसी हो सो सब तो ही सुनाए ही सोई सुन सठ भेद हो ही मनता के श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके हम कुल घातक सत्य तुम कुल पालक दस शीस अंधव बधिर नयस कहे नयन कान तब बीस सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं शिव बिरंच सुनी मुनि समुदाय चाहत जाय सो चरण सेवकाय तासुदूत हुए हम कुल बोरा ऐसे हुमती उर बिहरन तोरा सुन कठोर बानी कपिकेरी कहत दशानन नयन तरेरी खल तव कठिन बचन सब सहियाऊ नीति धर्म मैं जानत शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला अरे दुष्ट मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ कह कपिधर्म शीलता तोरी हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी देखे नयन दूत रखवाए रे बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारे कानना कबिनु भगन निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तब जग जाएगी परम दरसु हम हूँ बड़ भागी अंगद ने कहा तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख ली ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया जनी जल पैसि जन्तु कपि सठ बिलो कि मम बाहु लोकपाल बल ससे ग्रसन हे तु सब राहु नभ नभसर मम करनि कर कमलनि पर करिवास शोभत भय मराल सहित कैला कैलाश रावण ने कहा अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बक बक न कर अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था